بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم बसमीम योम तनफ़ा मन आजिन रहमान वरदी कौला सदक़ल्लाज़ीम व सदक़ा रसूल नबीकरीमीन إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मुनज़ाहन अन शरीकिन फ़ी महासिनी ही फ़जहरुलहसन फ़ी गैरमन कासिमी या अक्रमल खल माली मन अलूजुबी सिवा का रिंदा हलूल हादिसिल आममी रबी सल्ल वसलम दा इमन नबदा अला हबीबी का खैर खल के कुल्लहिमी अल्लाह तबारक व ताली जल्ला जलालू व अम्मा नवालू व तम्मा बुरहानू व आज़म शानू की हमदो सना और हजूर सरवर कायनात मफखर मौजूदात जीनत बज़म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार जमा सैद सरवराम हामी बेकसम कायदुलमरसलिन ख़ातमनबीन अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला अलैहि वबारक वसलम के दरबार गौर बार में हदिया सलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही व मोहतशम हजरात ख़वातीन माह रमदानमबारक के अशरा मगफरत में रमदानमबारक के तीसरे जुमातुलमबारक के मौका पर आज हमारी गुफ्तगु का मौजू है मफहूम कुरान बदलने की वारदात किस्त नंबर दस मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू हमें हक का पैगाम हर तरफ पहुंचाने की तुफी कता फरमाए मफहूम कुरान बदलने की वारदात ये हमारे उस मौजू का तसलसल है जो आज से कई साल पहले शुरू किया गया और अल्लाह के फजल से दुनिया के बहुत से ममालिक में इस मौजू को सुना गया और किताबी शक्ल में भी एक जिल्द आ चुकी है और दूसरी जिल्द इन रमदान और मुबारक के बाद आएगी इस मौजू में उन आयात को पढ़कर कुरान सुन्नत से यानी खुद कुरान ही से और फिर नबी सलाम के फरमान से तशरी की जाती है कि जिनके मफहूम को बिगाड़ने की कोशिश की गई और जिनके मफहूम पर वारदात करते हुए कुरान मजीद की मनशा मर्जी के खिलाफ अपनी ख्वाहिश कुरानी मफहूम में दाखिल करने की कोशिश की गई यकीनन जिन हजरात ने प्याली नौ किस्तें सुनी हैं बरह रास्त या उनके कैसेट सुने हैं वो जानते हैं कि किस अंदाज में लोगों ने फिक्री तौर पर बाज मकाम पर तर्जमा सही करते वक्त भी अपना गलत मकसद निकालने की कोशिश की और मफहूम को बिगाड़ने की कोशिश की रबाल की दी हुई तोफीक है कि हमने मुआवजा किया और अल्लाह ने इसके सदके कई लोगों को ईमान की आला बुलंदियों से माला माल फरमाया आज का हमारा मौजू वो मसला शफात के लिहाज से है कुरान मजीद बुरहान रशीद में शफात से मुतक बहुत सी आयात हैं मनजल्लजी यशफाओ इंदाहू इल्ला बिजनी कौन है जो शफात करे अल्लाह के हां मगर उसके इज़न के साथ यौम इजिल्ला तनफा शफा क्यामत के दिन शफात फायदा नहीं देगी इल्ला मन आजिन रहमान जिसके लिए अल्लाह ने इजाजत दी वरदी लहू कौला जिसकी बात को रब ने पसंद किया उसकी शफात फायदा देगी कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुतद आयात जिनमें शफात का तस्करा है ईमान वालों को शफात मुयसर आएगी और काफिर जो है उनको शफात मुयसर नहीं आए वो कहेंगे हमारा नाम इन शाफीन हमारा तो कोई शाफे नहीं है जो हमें छुड़ाए हमारी सिफारिश करे मसला शफात में हमारा ये अकीदा है कि क्यामत के दिन काफिर और मुशरक की शफात नहीं की जाएगी और ना ही जुल जलाल काफिर मुशरक को छोड़ेगा जो कुफर शिरक में रहा वो जहन्नम का दायमी कैदी है उसको कभी ना कोई अल्लाह वाला छुड़ाएगा और ना ही उसको छोड़ा जाएगा मोमिन के लिए सफारिश है शफात है मगर वो भी मशरूत तौर पर उसकी एक शर्त यह है कि सफारिश करने वाला जो है उसको अल्लाह की तरफ से इजन होगा कि तुम सफारिश कर सकते हो यानी रब्बे जुल जलाल की इजाजत के बगैर कोई जात अल्लाह के दरबार में सिफारिश नहीं कर सकेगी इजन अल्लाह का होगा और दूसरा यानी ये शर्त तो है कि सिफारिश करने वाला अल्लाह की तरफ से माजून हो इजाजत दिया गया हो और दूसरी शर्त यह है कि जिसकी करनी है वो मुशरक ना हो वो काफिर ना हो वो मोमिन हो अगरचे फासिको फाजिर है क्योंकि सिफारिश की जरूरत तो उसे पड़नी है जिसके गुनाह है मोमिन जरूर हो अगरचे वो फासको फाजिर है उसके लिए सिफारिश करने की इजाजत होगी और ये सिफारिश बिल वजाहत है यानी जिन शख्सियात ने अल्लाह के दरबार में सिफारिश करनी है अल्लाह के दरबार में जो उनकी वैल्यू है इसकी वजह से उनकी बात मानी जाएगी यानी ये कोई रोब नहीं रखते इनका कोई दबाव नहीं है अल्लाह तला पर रब जलाल तो बड़े जलाल में होगा आज उसके लिए उसके सामने किसी का कोई दबाव नहीं कल अशर को क्या होगा सारे शफी जितने भी बनेंगे शफात बिल वजाहत करेंगे कि इनका एक स्टेटस होगा अल्लाह के दरबार में उस रुतबे की वजह से इनकी बात मानी जाएगी ना ये कोई दबाव डाल सकते हैं और ना ही ये कोई और कोई जरिया इस्तेमाल कर सकते हैं बस अल्लाह के महबूब होंगे तो रब्बे सुरजलाल इनकी बात को कबूल फरमा देगा शफात ये हमारा अकीदा है मोतजिला का ये अकीदा रहा जो एक झूठा फिरका है कि फासिको फाजर की शफात नहीं होगी जबकि हम आल सुन्नत का हर दौर में यह अकीदा रहा बिलखसूस ये आयत में जो पढ़ी वरादी या लहू कौला इसमें जिक्र है कि उसकी शफात होगी कि जिसकी बात को रब पसंद करेगा वो मुजरिम की जिसकी बात को रब पसंद करेगा तो फासिको फाजिर ने यह बात तो जरूर की ना दुनिया में ला मोहम्मद रसूल्ला मोहम्मद अब्दू रसूल तो शर्त कुरान की पाई गई वरा दिया लहू कौला कि उसके कौल को रब ने पसंद किया है ये कौल उस फासिको फाजिर का जो मोमिन है मुशरक काफिर नहीं तो उसमें कुरानी शर्त पाई गई है लिहाजा हमारे अकीदे के मुताबिक जरूर अगर कोई उसकी सिफारिश करना चाहेगा तो अल्लाह ताला की इजन से सिफारिश कर सकेगा बाकी ये सिफारिश का जितना फलसफा है इसकी आयात सुन के या अहादीस शफात वाली सुन के किसी बंदे को गुनाह पर जरी नहीं होना चाहिए कि चूंकि सिफारिश हो जाएगी बात हो जाएगी तो हम अब नेकी ना करें यह किसी की भूल है इस वास्ते कि जिन्होंने सिफारिश करनी है वो ही कल राजी ना हुए तो फिर किधर जाओ उनके करने के बाद अल्लाह की मर्जी है और महबूब सलाम को तो सर्टिफिकेट दिया और महबूब सलाम ने वाजे किया लेखुल्ले नबीन दावातुल मुस्तजाबा हर नबी की एक दुआ जरूर कबूल होती है फताजला कुल्लो नबीन दावा हूं हर नबी ने वो मांग ली पर मैंने आज तक नहीं मांगी इन तो दावती उम्मती इला यौमिल क्यामा पर मैं अगरचे रोजाना दुआएं कबूल होती हैं मगर कोटे की दुआ मैंने छुपा के रखी है क्यामत के दिन मांग के उम्मत को जन्नत में ले जाऊंगा मोहतशम सामिन हजरात ये एक तफसीर का इकतबास मेरे हाथ में मैं ये पहले पेश करके तो फिर इस पर तबसरा करूंगा कि वारदात कैसी अल्लाह के कुरान में की जाएगी इसी आयत के तहत यौम तनफाउ शफात मन आजिन लहरहमान व रादी लहू कौला सूरह ताहा आयत नंबर नौ है इसके अंदर इसकी तस्वीर करते हुए इस मुफसर ने यह लिखा एक मामूली अफसर अपने जरा से महकमे में अगर अपने हर दोस्त या अजीज की सिफारिशें सुनने लगे तो चार दिन में सारे महकमे का सत्यानाश करके रख देगा भला जमीन व आसमां के फरमा रवा से यह कैसे तो की जा सकती है कि उसके हाथ सिफारिशों का बाजार गर्म होगा हर बुजुर्ग जा जा के जिसको चाहे बख्शवा लाएंगे दरहाल के उनमें से किसी बुजुर्ग को यह मालूम नहीं है कि जिन लोगों की सिफारिश वो कर रहे हैं उनके नामा अमाल कैसे हैं दुनिया में जो अफसर कुछ भी एहसास जिम्मेदारी रखता हो उसकी रवश यह होती है कि अगर उसका कोई दोस्त उसके किसी कसूरवार माताहत की सिफारिश लेकर जाता है तो वो उससे कहता है कि आपको खबर नहीं कि इस शख्स ने कितना ये कितना काम चोर नाफर्द शनास और रिश्वत खोर और खलके खुदा को तंग करने वाला है इसके करतूतों से तुम वाकिफ नहीं हो इसलिए आप बराह करम मुझसे इसकी सिफारिश ना करें इस मिसाल को देखकर मुफसर यह साबित करना चाहता है कि ये जो लोग कहते हैं कि क्यामत के दिन सिफारिश हो जाएगी और गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा अल्लाह माफ कर देगा तो कहता है एक आम महकमे में अफसर जो है वो अगर हर एक की सिफारिश मानता जाए तो महकमे का सत्यानाश हो जाता है और अगर क्यामत के दिन अल्लाह यह सिफारिशें मानना शुरू कर दे तो कानात कैसे बचेगी अल्लाह का निजाम कैसे चलेगा और फिर उसने जाके लिखा बोंगी सफारशें करने की वहां इजाजत न होगी कि एक शख्स दुनिया में सैकड़ों हजारों बंदगाने खुदा के हकूक ने उसको हकूक को उसने मारा हो और कोई बुजुर्ग उठकर उसकी सिफारिश कर दें कि हजूर इसे इनाम से सरफराज फरमाइए यह मेरा खास आदमी है यह तफीमुल कुरान का इकतबास मैंने तुम्हारे सामने पढ़ा इसमें शफात के मसले को कुरानी नुकता नजर से हट के बयान किया गया और नबी सलाम की मरफू हदीसों के खिलाफ बयान किया गया अब अपनी अकल से ये फलसफा बनाया गया कि दुनिया में ये बात वाजे कि एक अफसर जो उसके पास सिफारिश करने आए वो मानता जाए तो अच्छे बुले सारे लोग जो हैं सिफारिश मानेगा तो वाजे तो महकमा तो नहीं चलेगा कि काम चोर को भी तनख्वाह दे दे और जो शख्स ड्यूटी पे आता ही नहीं किसी की सिफारिश पर उसको भी वजीफा दे दे तनख्वाह दे दे तो ऐसे लोगों के काम तो नहीं चलेंगे महकमा नहीं चलेगा ये बात दुनिया के लिहाज से माकूल है कि एक शख्स को अपना महकमा चलाने के लिए सोचना होता है उसे देखना पड़ेगा और ये कह सकता है सिफारशियों को कि तुझे इसके करतूतों का पता नहीं तुम अच्छा है सिफारिश ना करो मुझे अपने काम में रहने दो मैंने काम चलाना मगर इस मुफसर को यह पता नहीं दुनिया की अफसर और हैं कायनात का खालिक और है क्यों नहीं पता इस वास्ते नहीं पता कि चलो सिफारिश का मसला अपनी जगह रखो दुनिया में सिफारिश के बगैर एक महकमे का अफसर अगर खुद ही सब निकम्मों को छोड़ता जाए कोई नहीं नहीं आता तनख्वाह फिर भी देंगे सिफारिश कोई ना करे वो खुद मुजरिमों को माफ करता जाए तो क्या महकमा चलेगा नहीं चलेगा तो हशर में क्या अल्लाह माफ भी नहीं कर सकेगा सिफारिश का मामला तो अपनी जगह रखो जो दलील दी है इस बंदे ने कि सिफारिशें उस वहां नहीं मानी जाएंगी या नहीं करने देगा कोई उसको यह भी तो सोचना चाहिए कि अल्लाह के माफ करने पर पाबंदी कौन लगा सकता सिफारिश कोई ना करे तो मेरे रब की शान है जिसने कलमा पढ़ के एक ने की बिना की उसको जन्नत पहुंचा दे चाहे तो कह सकता है इसीलिए तो उसको गफूर कहते हैं इसलिए तो उसको आफूब कहते हैं इसलिए तो उसकी मफरत के डंके बज रहे हैं इसलिए तो वो कह रहा है इजा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब महबूब जब मेरे बंदे तुझसे मेरा पूछे तो बताओ मैं बिल्कुल करीब हूं मुजीब दावतदान जब मांगे मैं दे दूंगा अब मुख्तम सामिन हजरात दलील उस शख्स की तुमने सुनी सफारिश के खिलाफ बोलते बोलते अल्लाह की माफी का जो मनसब है उसके खिलाफ भी बात आ गई अगर इस महकने वाली मिसाल को लेकर सफारशों के बाजार गर्म नहीं होंगे तो फिर दुनिया में जो किसी की सिफारिश के बगैर खुद मुजरिमों को छोड़ता जाए उसका महकमा भी नहीं चलता जबकि मेरे रब के महकमे को कोई रोक नहीं सकता माफ कर दे उस पर कोई पाबंदी नहीं और यकीन वो मुजरिमों को माफ करेगा इस वास्ते ये कसूर है उस अकल का जहां दीन का इलम ना था मैट्रिक फेल ने जिस वक्त ऐसे काम करने शुरू कर दिए अपनी अकल लेके सिर्फ महकमे को देखा कुरान मजीद की आयात को ना देखा कि कुरान बोलता क्या है नबी सलाम के फरमान को ना देखा कि नबी सलाम फरमाते क्या है नतीजा ये निकला और मैं ये बरबला कह चुका हूं ऐसे लोगों के हां तो ईद का मजमून भी बड़े खतरे में दाखिल हो चुका है ये पहले नबी सलाम की जात को अपने ऊपर क्यास करते थे और अपने मामलात नबी सलाम के साथ मिलाते थे फिर इन्होंने रब के मामलात को भी बंदों पर क्यास करना शुरू कर दिया ये बंदे पर क्यास किया ना रब को कि महकमा नहीं चलेगा अफसर का महकमा नहीं चलेगा मैं कहता हूं जालिम अफसर है खालेदार है अफसर का महकमा सिफारिश से नहीं चलता तो सबको छोड़ने से भी नहीं चलता और मेरे रब की शान है मुजरिमों को बरी करेगा मेरे रब की शान है मगफरत अता फरमाएगा अशराय मगफरत में बैठकर सुनने वालों इस रमजान के अंदर इस मफरत की हवा के अंदर पूरे कुरान की सैकड़ों आयात रब्बेजुल जलाल का ये बसब बयान करती है उसे कोई रोक नहीं सकेगा कोई उसको मजबूर नहीं कर सकेगा अल्लाह फुला को तूने नहीं बख्शना इसके करतूत बिल्कुल नहीं ठीक ठीक यहां तक हकूकुल इबाद का जो मामला है वहां पर भी रब्बेजुल जलाल बख्शवा लेगा बख्शवा लेगा उस मुतलका बंदे से जिस तरह के नबी सलात सलाम मजमा में बैठे मुस्कराए मुस्तदरक की हदीस मैंने आपको सुनाई है सरकार ने फरमाया दो उम्मती हैं मेरे रब के पास झगड़ा कर रहे थे एक जालिम था दूसरा मजलूम था मजलूम कहता था मेरे अल्लाह जालिम से हक लेकर दे तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसके तो पल्ले कुछ नहीं क्या देगा इसने कहा इसकी नेकियां मुझे दे दे उस अल्लाह ने फरमाया नेकियां खत्म हो चुकी हैं कहने लगा मेरे गुना इसके पलड़े में डाल दे तो अल्लाह तला ने फरमाया सामने देख नजर क्या आता है तो सोने के जन्नत के महल नजर आए तो इसने कहा अल्लाह ये किसके हैं अल्लाह ने फरमाया जो अपने जालिम को माफ कर देगा सरकार ने फरमाया इस पर मैं मुस्कराया हूं कि अल्लाह ने कैसे बख्शा है अब ये गलती है तफहीमुल कुरान के अंदर एक नहीं दस मकाम से जाग पर कि अल्लाह का मामला बंदों पर क्यास किया अगर मुकम्मल तौर पर क्यास करना है तो फिर तो यह नतीजा निकलेगा कि माशर में रब ने सजाएं देनी है माफ नहीं करना जबकि मोमिनों का अकीदा है माफ कर देगा उम्मीद है हमें माफ कर देगा उसकी शान है और वो नबी सलाम ने फरमाया था ए कदर की रात को जागने वालों ये दुआ करना अल्लाह इन्ना का अफूबन तू हिब्बुल अफवा फाफनी या गफूरो या गफूरो या गफूर तू ए अल्लाह माफी को पसंद भी करता है मुआफ करता भी है मुझे भी मुआफ कर दे अब देखो कितनी गलत सोच है जब रब्बे जलाल की सिफतें बंदों पर आके क्या करना चाहिए तो महकमे को और अल्लाह के निजाम कुदरत को मिला दिया तो सिर्फ बुद्ध था वलियों के बारे में नबियों के बारे में मगर बात वो कर गए कि जो अल्लाह के निजाम मफरत से भी टकरा रही है अब सुनो कुरान मजीद बुरहान रशीद के पूरे मजमून से और हजारों अहादीस की रोशनी में मैं यर्ज कर रहा हूं क्यामत के दिन शर्तें वो जो मैंने पहले खुद बयान की इस याद में वो ही है योम जिल्ला शफा इल्ला मन आजिन रहमान कोई बड़े से बड़ा क्यों ना हो कुतुब गौस वली अगर रब की इजाजत नहीं होगी तो सिफारिश नहीं कर सकेगा और फिर ना काफिर की करेगा ना मुशरक की करेगा यह इज्जत दे दिया जाएगा किस अंदाज में कि तुम जिस मोमिन की करना चाहो करो इन लोगों ने सिफारिश को किस तरह माना इतना सिर्फ माना कि जिस तरह एक अफसर जेल से किसी को बरी कर दे फैसला कर दे सब कुछ हो जाए और फिर सिपाही को कह जा उसको जेल से बाहर निकाल दे अब ये सिपाही क्या कोई दखल है उसमें आर्डर हो गया फैसला हो गया उसके बाद नौकर को कहा जाबा उसको निकाल दे अरे कमाल तो उसका है देश ने अफसर के साथ जाके बात की थी और उसको बरी करवाया था लोगों की पूरी तबलीग में यह नुकता है कि सिफारिश मानते हैं होगी मगर जिसने करनी है उसकी कोई वैल्यू नहीं यह होगी पहले रब्बे जलाल देख लेगा कि जिसके गुना थोड़े हैं कहेगा आप इसकी तू सिफारिश कर ले और फिर उसको छोड़ देगा यह अंदाज इन लोगों ने पेश किया जबकि कुरान सुन्नत ने यह अंदाज पेश किया सिर्फ इसमें नहीं मोमिन रब से झगड़े भी करेंगे और झगड़े करके अपने दोस्तों को जन्म से बाहर निकाल लाएंगे दस किस्म की शफात है कितनी किस्म की दस किस्म की जो अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को शान अता फरमाई है कोई एक तरह की शफात कर सकेगा कोई दो तरह की कोई तीन तरह की ये हमारे महबूब सलाम है जिनको खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने दस तरह की शफात का सेहरा पहनाया है और ये मकाम महमूद वाली शान है और शियातुल्लमाक के अंदर तफसीलन उसका तस्करा है पहली सफात क्या है बुखारी मुस्लिम साहब में हदीसें मौजूद हैं कि मैदान माशर में लोग जब रुक जाएंगे हबस गर्मी और पसीना होगा और हिसाब होना शुरू नहीं होगा सब कहेंगे कि हमें निजात दिलाए इस ग्राउंड से हिसाब तो जो होगा होगा हम यहां जल जाएंगे कोई हमें बचाए इस जगह से हजरत आदम सलाम से लेकर हजरत ईसीम तक सबके पास जाएंगे वो कहेंगे इस हबू इला मोहम्मद इस गर्मी से हम नहीं बचा सकते कोई कहेगा मैंने ये बात की कोई कहेगा मैंने दुनिया में ये कहा था रब आज जलाल पे बड़ा है बात सुनेगा नहीं इस अबूला खैरी और के पास जाओ और के पास जाओ चलते चलते हतीस सलाम के पास जाएंगे वो कहेंगे मेरे महबूब के पास जाओ और नबी सलाम के पास जब उम्मतें पहुंचेंगी अब ये नहीं और के पास जाओ फरमाया आना लहा मैं तो तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं देर क्यों करते रहे हो ये मतलब है आना लहा मैं तो हूं सफात के लिए शफात के लिए बैठा हूं तो ये पहली शफात शफात उजमा जिसको कहा जाता है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सिवा किसी का हक नहीं सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दी हुई शान से ये सिफारिश करेंगे ये पहली सिफारिश है दूसरी सिफारिश वो लोग जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे ये सिफारिश महबूब अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह कुछ लोगों का हिसाब ही नहीं करना इनको बगैर हिसाब जन्नत में ले जाना यह दूसरी सिफारिश तीसरी उन लोगों की सिफारिश कि जिनका हिसाब होगा तो नेकी बदी बराबर हो जाएगी अब भी फैसला जन्नत का तो नहीं हो सकता नेकियां बढ़ती तो जन्नती बनता यह भी मोहताज है बेचारा कि मेरी कोई सिफारिश करे तो महबूब सलाम इसकी भी सिफारिश फरमाएंगे तीसरी किस्म की चौथी किस्म की सिफारिश क्या होगी कि एक शख्स का फैसला हो गया कि यह जहन्नमी है अभी जन्नत में जहन्नम में दाखिल नहीं हुआ लेकिन जब अमाल तोले गए तो फैसला हो गया कि यह जन्नमी है महबूब सलाम ने सिफारिश करके जन्नत अता फरमा दी पांचवें नंबर पर वो शख्स जो जहन्नम में चला गया अपने अमाल की वजह से वहां से मुठ्ठी भर के करोड़ों को जन्नत में पहुंचा देना हदीस सही में यह सिफारिश है हमारे महबूब सलाम की और छठे नंबर पर वो बंदा जो दाइमी जहनमी है उसका अजाब कुछ हल्का कर देना बाहर नहीं निकालना हल्का करना यह भी सिफारिश यह शान भी हमारे महबूब सलाम को हासिल है जिस तरह के सही बुखारी में जनाब अबू तालिब के बारे में जिस वक्त हजरत अब्बास ने पूछा महबूब वो तुम्हारा चच्चा तुम्हारे लिए लोगों से झगड़े भी करता था हल अगनई अनम्मे का शया तो क्यामत में कुछ फायदा दोगे चच्चे को फरमाया हां फायदा दूंगा लौला आना लकाना फिर दर किलस फाले में नन्ना अगर मैं ना होता तो सत्तर साल गहरे जन्म के पंदे में चच्चा जलता फरमाया अब सिर्फ टखनों तक अजाब होगा एक काफिर को भी तकफीफ नबी सलाम की खसूसियत है वरना लाज खफान हमल अजाब काफरों का अजाब हल्का भी नहीं होता और इस मकाम पर महबूब सलाम ने फरमाया ये मेरी शान है सिर्फ मेरी वजह से रब्बे जुल जलाल चच्चे मेरे के अजाब को हल्का फरमा देगा और वो सिर्फ दाह दाह मिनन्नार टखनों तक बाकी रह जाएगा इसके बाद सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे सातवें नंबर पर किन लोगों की जो जन्नत में है मगर नॉर्मल सी जन्नत है दिल तो करेगा साहब को जन्नत में आ गए हैं तो ऊंची में चले तो महबूब अलैहिस्सलाम की वहां भी सिफारिश काम आएगी वहां भी सिफारिश फिर महबूब अलैहिस्सलाम एक सिफारिश करेंगे खास अहल मदीना के लिए और एक सिफारिश करेंगे रोजा पाक पर हाजिरी देने वालों के लिए यह बाकायदा कोटा है एक कि चूंकि अल्लाह मेरे विशाल के बाद भी मेरे दर पर आया था तो मैं तो इसको ले जाऊंगा जन्नत में हां सरकार राजी हो जाए साथ ये बात देर में रखना इनमें से किसी चीज को भी कोई सर्टिफिकेट अपने जन्नति होने का ना बनाए कोई गया सरकार ने उसको कबूल ही ना किया हो नाराज हो गए हो या उसके बाद वाले किसी अमल ने नेकी जाया कर दी हो तो सरकार राजी होंगे तो फिर सिफारिश का दरवाजा खुलेगा नौ सिफारिशें ये हैं दसवीं सिफारिश है जन्नत का दरवाजा खोलने की आना अब वालो मैं यू हर रे को हेला कल जन्नत फरमा लोगो सुन लो मेरे सिवा कोई जन्नत का दरवाजा नहीं खोल सकता जब जन्नत दाखिले के सब मुंतजिर होंगे लाइनें लगी होंगी सब तड़पेंगे देखेंगे काश खुले दरवाजा तो जिस हाथ में चाबी होगी वो चाबी वाले मेरे महबूब हैं ये सिफारिश है दसवीं दस सिफारिशें दस सफातें मेरे महबूब सलाम को रब्बे जुल जलाल ने शान दी है और यहां ये नहीं कि नाप नाप के तोल तोल के ए महबूब फुला बिन फुला उसका हिसाब चेक हो गया है अस्सी फीसद पास है बीस फीसद कुछ कमी है अब तुम सिफारिश कर लो ऐसी इजाजत नहीं होगी इजाजत यह होगी महबूब जिसको पसंद करते हो उठाओ जन्नत में पहुंचा दो ये इस्माइल देलवी वगैरह का अकीदा है कि ऐसी ही सिफारिश करेंगे कि हाकिम आर्डर करेगा जाओ वो जेल का दरवाजा खोल दो अब मैंने उसको माफ कर दिया है ये सिफारिश नहीं मेरे महबूब सलाम को आपके कहने पर फैसला होगा जन्नत का फिर दरवाजा खुलेगा यह सिफारिश है मुस्लिम शरीफ की हदीस सुन लो कुर्बान जाए उस अजीम आका पे जिनकी आंखें उम्मत के लिए रोती रही महबूब सलाम तशरीफ फरमा है तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तु रावी हैं सही मुस्लिम शरीफ में यह किताबुल ईमान के अंदर यदि शरीफ मौजूद है महबूब सलाम ने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी तो आंखों से अश्क जारी हो गए एक हजरत इब्राहिम सलाम का कौल है जो आयत की शक्ल में और दूसरा हजरत ईसा सलाम का हजरत इब्राहिम सलाम ने क्या कहा रब इन अदल कसीरा मिनन्नास फमन ताबियानी फ़ैन मिन्नी वमन आसानी फ़ैन का गफूर रहीम अल्लाह ये बुत जो हैं इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया मतलब यह गुमराही का सबब बन गया लोग इनको सजदे करने लग गए अब मेरे रब सुन ले मेरी बात फमन ताबियानी फ़ैन मिन्नी जिसने मेरी बात मानी पैरोकार रहा मेरा वो तो मेरा है यानी कलमा पढ़ने के बाद फिर मेरी बात भी मानता रहा मैं उसका जिम्मेदार हूं मौला वो मेरा है वमन आसानी और जिसने मेरी बात नहीं मानी फैन्ना का गफूर रहीम फिर वो तेरा है मर्जी या जो कुछ कर फैन्ना का गफूर रहीम तू गफूर रहीम है वो मेरा नहीं अल्लाह मेरे खाते में उसको ना डालना मन ताबियानी फैन्ना मिन्नी जो मेरा पैरोकार बना कलमा पढ़ के वो मेरा और जो कलमा पढ़ के नहीं बना वो मेरा नहीं है ये वाजे उन्होंने रब्बुल जलाल से कह दिया कुरान मजीद में हजरत सलाम ने फरमाया इन तो अजदेव हम फाइन हम इबादों का वइन तक फिर हम फाइन नकान तल अजीजुल हकीम अल्लाह बंदे हैं ये मेरे साथ जो चलने वाले अगर तू इनको अजाब दे तो तेरे बंदे हैं तेरी मर्जी या दे ले और अगर तू बख्श दे तो तेरी शान है ये हजरत सलाम ने कहा अपनी उम्मत के लोगों के लिहाज से रबुल जलाल से बात खत्म हो गई अल्लाह अगर अजाब इनको दे अजाब क्यामत के दिन और अगर तू माफ कर दे तो तू शान वाला रब है तू माफ कर सकता ये दो आयात जब मेरे महबूब सलाम ने पढ़ी आंखों में आंसू आ गए हाथ ऊंचे किए अल्लाह उम्मती उम्मती फबका रोए अल्लाह मैं तो उम्मत से नहीं कट सकता ये तेरे दो पैगंबरों ने कह दिया तुझको कि जो हमारा पैरोकार रहा वो हमारा है और जो कलमा पढ़ के फिर गलत काम करता रहा हमारा नहीं मर्जी है अदाब दे मर्जी है छोड़ दे मेरे रब मैं तो नहीं छोड़ सकता उम्मत को अल्लाह उम्मती उम्मती अरे अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत का क्या बनेगा मेरी उम्मत का क्या बनेगा ये लफ्ज भी बोले आंखों में आंसू आ गए हो नहीं सकता फर्श पे आंसू निकले और अर्श पे एहसास ना हो फरिश्तों को और अल्लाह की तरफ से फैसला ना हो रबेजुल जलाल ने फरमा जिबरील जाओ महबूब मेरे रो रहे हैं पूछो तो सही जाके मां युब की का महबूब आंसू क्यों निकले हालांकि हदीस में अब जानता है क्यों निकले जानता है क्यों निकले लेकिन फिर पूछता है क्यों दुनिया को पता चले किसी की आंसू निकले तो मां पूछे किसी के निकले तो बाप पूछे किसी के निकले तो भाई पूछे और किसी को निकले तो इलाही पूछे रब अरश ने जिबरील को भेजा जिबरील चलना महबूब मेरा रोता मुझे नजर आ रहा है पूछो माजुबकी का तुझे क्या चीज रुलाती है क्यों रो रहे हो क्यों रो रहे हो जिबरील सलाम आ गए आके पूछा तो महबूब सलाम ने पढ़ के सुना दिया ये दो आयतें कुरान की सुन जिबरील और मैं तो उम्मत के बारे में उम्मत को नहीं छोड़ सकता कि मैं कहूं ए अल्लाह मर्जी है तो जला दे मर्जी है तो बचा दे अल्लाह उम्मती उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत जिबरील सलाम सुन के अर्श पे सिदरा पे चले गए जाके रब्बे जलाल को बताया कि ये कहते हैं उनको दर्द कोई अपना नहीं दर्द अपने गुलामों का है वो रोए भूख की वजह से नहीं रोए गुलामों के लिए जो जहन्नम के शोले हैं उसकी वजह से है अब जरा तो सबूर बांधो उस महफल का जब महबूब सलाम की आंखों में आंसू थे अर्श से जिबरील आए थे और बरेली से मेरे इमाम ने तर्जमा किया अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए थे मोहतशम शामिन हजरात जलाल ने फरमाया जबरील फिर जाओ जाओ हम अपने महबूब को रोते नहीं रहने देंगे लफज सुनना सिक्का बंद सही मुस्लिम थोड़ा महबूब से कहो चुप कर जाओ इन्ना सनुर्दी का फी उम्मत का वला नसूओ का महबूब तुझे उम्मत के मसले में राजी करेंगे यह है ना सबसे बड़ा जुमला यह नहीं कहा कि तुम्हारा हजार कहोगे हजार भेज देंगे दो हजार कहोगे दो हजार भेज देंगे दस हजार जन्मियों को निकलवाना चाहोगे भेज देंगे दस लाख को चाहोगे भेज देंगे फरमाया नहीं महबूब मकसद है तुम्हें राजी करना जब राजी हो जाओगे हम बस कर देंगे सनोरदी का फिर उम्मत का वला नसुओं का फरमा हमने कोई क्यामत के दिन आपको नाराज के रखने के लिए क्यामत बनाई है हम तुझे नाराज नहीं होने देंगे महबूब हौसला रखो सनुर्दी का हम तुझे राजी करेंगे इन लफ्जों के सामने वो अफसरों वाली बातें करना कोई मोमिन का काम है कि तो जिधर से एक बंदे की उधर इजाजत रब देगा फिर अब कहोगे सिफारिश कर लो नहीं क्यामत तो क्या बात मेरे महबूब इस्लाम ने दुनिया के में बैठ के आंसू बहाए हैं रब ने निजाम बना दिया है दुनिया में बैठकर आंसू बहाए हैं आखिर मैंने शुरू में कहा कि यह सिफारिश जो है किसी के रोब की नहीं ये सिफारिश किसी की पावर की नहीं ये सिफारिश रब के दरबार में मकाम नाज की है जिबरील महबूब मेरे हों जमीन पे रोते रहे ऐसा नहीं होगा जाओ ना पूछो हालांकि रब जानता है मगर इसमें लज्जत ज्यादा है कि पहले महबूब मांगे फिर दी जाए वो पहले कहे ना मुझको जिबरील को कि ये मसला है इसलिए मैं रो रहा हूं तो मैं दोबारा जिबरील तुझे भेजूंगा कि जाको कहो कोई मसला नहीं सनुर्दी का हम तुझे राजी करेंगे राजी करेंगे वला नसुओं का नाराज नहीं होने देंगे गुनाहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा दुल्हन शफात बनेगी दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा इधर वो गिरतों को थाम लेंगे उधर प्यासों को जाम देंगे सिरा तो मीजान हौज कौशल यही वो आली मकाम होगा आना लहा कह के आशियों को लेंगे आगोश मरहबत में अजीज अकलौता जैसे मां को तो नबी को अपना गुलाम होगा इस अंदाज के अंदर रब्बे जलाल महबूब सलाम को शान देने का वादा कर चुका है वो रब जो सच्चा रब है और सच्चाई के दिन उसका ऐलान कर चुका है कि महबूब सलाम को तोल तोल के नहीं नाप नाप के नहीं थोड़ी थोड़ी नहीं एक इजाजत जरूर होगी रब इजाजत देगा फरमाएगा महबूब चुल्लू भरो करोड़ों उठाओ जन्नत में पहुंचा दो अब कहां गए वो जुमले कि इसे क्या खबर के करतूत इसके कितने थे अफसर को पता है कि कितनी कोताही करता रहा अरे शफात फिर किस चीज की है रबेसुल जलाल ने फरमा महबूब हमने देखना है तुझे हमने उस बंदे को नहीं देखना कि थोड़े किए थे या ज्यादा किए थे हमने तुझे नाराज नहीं होने देना तुझे नाराज नहीं होने देना और तुझे नाराज नहीं होने देना तुझे राजी करना है अब ये है शफात ना ये कि अल्लाह किसी को फैसला करके जन्नति बनाए और फिर क्या महबूब अब तुम सिफारिश भी कर लो इसकी अब दरवाजा खोल दो ये चला जाए यह नहीं है गलत मफहूम लोगों ने वार्ताक की कुरान मजीद की आयात पर मेरे महबूब सलाम की यह शान है अल्लाह ने तो थोक के हिसाब से कहा लफज नहीं बोले लाख दो लाख करोड़ दो करोड़ फरमाया महबूब सनोर्दी का हमने तुझे राजी करना है वाला सऊफा योथी का रब्बू का फतर ये शान है ना सारी दुनिया कहे रब को राजी करना है रब कह महबूब को राजी करना है फिर सुनिए दूसरे नंबर पर हदीस शरीफ से इसका मफहूम बाज करना चाहता हूं निसाई शरीफ में हदीस शरीफ निसाई शरीफ में सियासिता में से सही हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा मुजादाला तो अहदकुम फी हक्किन यकून लहू फी दुनिया बे अशद्दा मुजादिला मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम मिनल मुमिनीना रब्बहुम फी इखवानहिम फरमाया दुनिया में आज तक कोई बंदा अपने किसी हक के बारे में इतना झगड़ा नहीं कर सका जितना झगड़ा क्यामत के दिन वली करेंगे कोई बंदा अपना जितना भी उसका हक छीन दिया हो गया हो उसको लेने के लिए इतना झगड़ा नहीं करता इतनी स्ट्रगल नहीं करता इतनी कोशिश नहीं करता किसी के मुरब्बे चले जाए जो कुछ हो जाए किसी का बेटा कत्ल हो जाए महबूब फरमाता है पूरी दुनिया पर कोई बंदा अपना हक वापस लेने के लिए अपने हक के लिए वो झगड़ा नहीं करता कौन सा फरमा जो झगड़ा मोमिन क्यामत के दिन अपने भाई के लिए करेगा जो जहन्नम में चला गया है झगड़े का लफज है मुजादले का मुजादले का लफज है और कौन होता है जो रब से झगड़े करे और बच भी जाए यह है मकाम नाज अल्लाह तला फरमाता युजा दिलो नाफी कौमिलू इन इब्राहिम अल्लाह हलीम मुनीब फरमा लोगो सुन लो कुरान है फरमा हजरत इब्राहिम सलाम हमारे साथ झगड़ा करते हैं कौम लूत के मसले में तो अल्लाह जो झगड़ा करे वो तो तुम्हारे दरबार से फिर निकाल दिया जाता है फरमा नहीं इन इब्राहिम अल्लाह हलीम झगड़ा करके भी इलम वाला इब्राहिम है घरों के झगड़े और होते हैं अपनों के झगड़े और होते हैं कुरान है झगड़ा भी किया इब्राहिम सलाम ने कौम लूत के बारे में अल्लाह से अल्लाह तला फरमा तीन सिफतें साथ बयान कर दी फरमा हलीम भी है अफवाह भी है मुनीब भी है मेरा इब्राहिम हौसले वाला है सबर वाला है इताक वाला है मेरी तरफ रजू करने वाला है ये सारी शान बयान की हालांकि झगड़ा भी किया क्यों महबूबों के दरबार में मुहिबों के मकाम होते हैं इस वास्ते झगड़ा भी मीठा हो गया ये अंदाज है जो मेरे महबूब सलाम ने फरमाया क्यामत के दिन मोमिन झगड़ा करेंगे कामिल कौन जो जन्नती बन चुके हैं झगड़ा करेंगे क्या ए अल्लाह कानू यूसुमू न माना व यहुजू न माना व यूसल्लू न माना वाद खलता हूं मुन्नार हमारे भाई थे हम इकट्ठे हज करने गए थे ये जुमला हमारे भाई थे हम नमाज भी इकट्ठे पढ़ते रहे हमारे भाई थे हमने रोजे इकट्ठे रखे और तूने उनको जन्न में दाखिल कर दिया तो हो सकता है नमाजी रोजेदार हाजी के कोई गुनाह हो तो जहन्नम में चला जा ये सूरत हाल बन गई महबूब सलाम की आंख के नीचे जहन्नम भी है जन्नत भी है देखकर निसाई शरीफ फरमा वो कहेंगे अल्लाह हमारे साथी तूने जहन्नम में दाखिल कर दिए निकाल उनको हमें इजाजत दे हम निकाल लाए झगड़ा तब बनेगा ना जब कहेंगे उधर से कबूल नहीं होगा ये फिर कहेंगे अल्लाह हमारे साथी जन्म में तूने दाखिल किए वो हमारे साथ त्रावी पढ़ते थे निवाजी थे अरे अल्लाह इजाजत दे हम निकाल के ले आए झगड़ा तब बनेगा जब थोड़ा उधर से तवक्फ होगा ये बार बार कहेंगे बार बार और सिर्फ झगड़ा ही नहीं सरकार फरमाते हैं शदीद तरीन झगड़ा अशद के लफज बोले एक होता है शदीद एक है अशद असाद अच्छा, जो है सुपरलेटिव डिग्री है शिद्दत की बड़ा ही जान मारेंगे इधर से उधर से ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह वो हमारे भाई जन्नम में चल गए जन्नम में चल गए इजाजत दे हमको हम निकाल के ले आए इतना दुनिया में किसी का पसीना नहीं बहता हक मांगते वक्त इतना रब से झगड़े करेंगे झगड़े करेंगे अब इधर ये हदीस है और उधर तफीमुल कुरान की वो इबारत तो देखो कि करतूत क्या थे तुझे पता नहीं है हट जा पीछे तेरी बात नहीं मानी जाएगी नहीं नहीं रब्बे जलाल क्या फरमाएगा चलो मेरे बंदो तुम जन्नत लेके भी खुश नहीं हो कहते उसे भी निकाल उसे भी निकाल ए आखिर जू मन अरफ तुम जाओ जो जो बेली है बहर निकाल के ले आओ मैं यार किस चीज को बनाया किसको निकालना है फरमा मन अरफ तुम जिसको तुम जानते हो जिसकी भी पहचान है जिसकी भी पहचान है खा गुना उसके थे दस लाख खा थे बीस लाख खा थे एक हजार मन नरस दो मैंने तुम्हारी बात मान लिया जाओ जिस जिस को पहचानते हो उसे जन्म से निकालो जन्नत में ले जाओ ये शफात है खुली सरकार के गुलामों के लिए भी चूंकि पहली जो शफात है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महबूब सलाम का खासा है आप मकाम महमूद पे होंगे जब तक सिफारिश का दरवाजा नहीं खुलेगा कोई नहीं कर सकेगा आप खोलेंगे अल्लाह के इज्जत से तो फिर तो यहां तक भी आ गया कि वो ना तमाम बच्चा पूरा बना ही नहीं था विलादत से पहले मुद्दत पूरी होने से पहले वो बच्चा जाया हो गया सकत उसको कहते हैं जो गिर जाए बच्चा महबूब सलाम फरमाते हैं वो भी अपने नाफे के साथ मां को बांध के जन्नत ले जाएगा क्या मजाक बना लिया इन लोगों ने शफात के मजमून को महबूब सलात सलाम दरवाजा खोलते हैं उसके बाद कितने शफी हैं वो छोटे बच्चे तक वहां तक सिफारिश मानी जाएगी बात कबूल होगी रब जलाल उनकी बात को पसंद कर लेगा अब ये जो झगड़ा कर देते शदीद झगड़ा हर वक्त ऐ रब ऐ रब हमारे दोस्त जहन्नम में जल रहे हैं अल्लाह तला ने फरमाया जाओ आखिर जू मन अरफ तुम अब ये चले जाएंगे बाद हम मन आखदा तुम नारो इला निस्फे साक है जिनके लिए झगड़ते रहे उनमें से कुछ वो हैं जिनको आधी पिंडलियों तक आग आ गई है इसे पता चलता है कि जहन्नुम में बड़ा कोई कंप्यूटराइज निजाम है ऐसा नहीं कि जिसको गिराया फौरन ही हर एक नीचे पहने में चला जाए यानी आग ऊपर बोझ भी बर्दाश्त कर सकेगी आहिस्ता आहिस्ता जो जो मुजरिम होगा धनस्ता चला जाए बाद उनमें से आधी पिंडलियों तक आग में चले गए और बाद टखनों तक ऊपर से शफी पहुंच गए शफी पहुंच गए अब अल्लाह का आर्डर है रोक कौन सकता है हाथ डाला खेच के जन्नत में पहुंचा दिया मोमिन का लफज है मोमिन का यानी जो बड़े दर्जे के सालहीन है औलिया शुहादा गौस कुतब और फिर अम्बिया उनका मामला तो बड़ा दूर का मामला है ये क्लास फैलो मोमिन हज फैलो और नमाज फैलो ये कट्ठे रोजे रखने वाले आधे पास हो गए कुछ ना काम हो गए जो पास हो गए महबूब सलाम फरमाते हैं झगड़ा बड़ा करेंगे और झगड़े का फायदा भी होगा रब मान जाएगा अब जिस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा निकालो निकाल के फिर चले जाएंगे अल्लाह के दरबार में ए अल्लाह वो तो सारे हम निकाल के ले आए जो तूने कहे थे अब यहां पर ये अंदाज भी देखो ना अल्लाह तला ने यह नहीं कहा जैद को निकालो अमर को निकालो बकर को निकालो खालिद को निकालो फरमानी मन अरफ तुम जिसको पहचान क्यों निकाल लो मैंने जो तो दरवाजा खोल दिया रहमत का यह उमूम वाला लफ्ज है अब जिसको पहचानते हो सकता है सौ हो सकता हजार हजारों दस हजारों मन अरफ तुम मैं यार तुम्हारा पहचानना है निकाल लो जाके अब चले गए अल्लाह जिनको हम जानते थे निकाल के ले आए इनको उम्मीद लग गई है अब अगली बात भी मानी जाएगी जाके हालांकि जन्नत में पहुंचा के दोस्तों को फिर कहते अब हम भी आ गए दोस्त भी आ गए हैं नहीं फिर जाएंगे अल्लाह जो तू ने कहे थे हमने निकाल लिए फिर अल्लाह फरमाएगा जाओ आखिर जू मन काना फी कल्ब ही वजनो दीनार अब एक और कोटा तुम्हें दे रहा हूं पहले था जिनको पहचानते हो तो अब जिस जिस के दिल में एक दिनार जितना भी ईमान है उसे भी निकाल के ले आओ अब उस तफहीम के लफ्ज पर गौर करो कि वो सर कहेगा तुझे पता नहीं इसके करतूत कितने इसने तो कोई अच्छा काम किए ही नहीं तो मैं क्यों छोड़ू निजाम नहीं चलेगा अल्लाह फरमाता है सारी जिंदगी इसने कोई अच्छा काम ना किया मगर दिल में ईमान तो था बंदो जाओ एक दिनार भी जिसके दिल में है निकाल के ले आओ ये जाएंगे उनको निकालेंगे फिर अल्लाह के दरबार में रबेजुल जलाल फरमाएगा आखिर जू मन का नफी कलबी निसफ दीनार रेट लग गया है आधा दीना जिसके दिल में उसे भी निकालो निकाल के फिर जाएंगे अरे अल्लाह आधे वाले भी निकाला है फरमा मन का नफी कलब ही जर्रा राई बराबर जिसमें वो भी निकाल लो कितना जुल्म किया शिफात के मजमून के साथ इन लोगों ने भाई अगर डराना मकसूद है लोगों को तो जो अंदाज है उससे डराओ ना कि शफात की जो रीढ़ की हड्डी है उसका इनकार कर दो ये शफात इसको सुन के कोई जरी ना हो जाए कि मेरे दिल में फिर निसफ तो आ जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कि वो लोग वहां तक उनकी जो शफी है रसाई ना हो फिर भी मामला अटक जाए इस वास्ते डरते रहना डरते रहना और अमल करते रहना ये मोमिन की शान है मगर शफात मानना भी मोमिन का ईमान है अब यह मामला जिस वक्त मजीद आगे बढ़ता है सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाम फरमाने लगे लयद खुल जन्नत बेशफात राजोल मिन अक्सर मिन रबी याबा मोदर फरमाया मेरी उम्मत के एक इंसान की शफात से रबिया और मोदर कबीले की मजमूरी जो आबादी है उससे ज्यादा बंदों को जन्नत अता फरमाई जाएगी ये दो कबीले रबिया और मोदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले बड़ी आबादी वाले थे तो नबी सलाम ने फरमाया जितने इनके बंदे हैं इनसे ज्यादा तो मेरा एक उम्मती जहन्नम से निकाल के ले जाएगा और फिर फरमा आदमी उठेगा कहा जाएगा युकाल लो लो कौन फुलान यशफा अल्लाह फरमाएगा उठ शफात कर सिफारिश कर तो फिर यशफाओ ले आले बहते ही यशफाओ ले आले ही यशफाओ रजुल और रजुलैन अला कदर अमाने ही जब रबे जलाल फरमाएगा उठ शफात कर तो किस पावर पर शफात करेगा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने अमल के मेरिट पर यह शफात करने वाला जो है अला कदरे अमल ही जितना रब को प्यारा होगा उतना कोटा ज्यादा होगा यहां से भी उस मजमून की गलती साबित हुई वहां यह है कि देखना है उसके करतूत क्या थे कोई अच्छा भी किया है कोई बुरा भी किया है तो नबी सलाम तो फरमा रहे हैं अब उसका लिहाज नहीं अब सिफारिश करने वाले का लिहाज है इसका अमल कितना था इसकी वैल्यू रब के दरबार में क्या है इसका मर्तबा क्या है इसका मर्तबा क्या है उस मर्तबे के मुताबिक पर मैं कुछ बंदे हजारों की कर सकेंगे कुछ अपने खानदान की कर सकेंगे कुछ अपने घर की कर सकेंगे कुछ एक की करेंगे कुछ दो की करेंगे अला कादर आमाले ही जितना किसी ने रब के दरबार में मकाम बनाया है उतनी सिफारिश कर सकेगा इस वास्ते वो हदीस तो मैंने सुनी होगी मन कर अल कुराना फस तज हरा हूं फहल हलाल हूं वह हर्रम हराम हूं अद फलाहुल्लाहुलजन्ना व शफ आहू फियाशरत मिनाल बैत ही कुल हिमकत वजबत लहुन्नार हदीसे सही है मेरे महबूब सलाम फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा फस तजरा फिर हिफज कर लिया अहल्ला हलाल हूं वहर्रम हराम हूं फिर उसको समझा और समझ के सारी जिंदगी अमल किया उसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना क्या होगा मेरे महबूब सलाम फरमाते हैं अद खलाहुल जन्ना अल्लाह उस बंदे को जन्नत दाखिल फरमाएगा मोहतम सामिन हजरात इसका अगला हिस्सा बयान करने से पहले आपको फिर याद दिलाऊंगा कि हमारी मस्जिद का तमीरी काम शुरू है और ये लंटर का मरहला आना मफहूम कुरान बदलने की वारदात कुरान के अंदर जो की जा रही है उसका हमने मुआवजा करना है आप देखिए महबूब सलाम ने फरमा शफ आहू सिर्फ उसको ही अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा वो तो हो गया शफ आहू फी आशारा तिम मिन अहले बहते ही उसके कहने पर रब्बेजुल जलाल इसके घर में से दस आदमियों को जन्नत अता फरमाएगा दस आदमी दस कौन से कि जो पास होने के वैसे करीब थे छोटी सी रुकावट थी हमारे महबूब सलाम फरमाते हैं नहीं छोटी रुकावट वाले नहीं कुल हिम कद वाजा बत लहुन्नार सारे जहनमी हो चुके थे मोमिन थे मगर फास्को फाजिर थे उसके घर वाले खानदान में से दस बंदे उनका जहन्नम में जाना तय हो चुका था ऐलान हो चुका था रब के दरबार में कि ये जन्नमी है उसके बाद ये छोटा सा हाफिज उठा जिसने कुरान पढ़ा समझा और अमल किया महबूब सलाम का दिया हुआ कोटा इसने कहा अल्लाह मैं हाफिज हूं मेरे खसूसी नंबर हैं तो दस बंदे मेरे जन्म से निकाल दे महबूब सलाम फरमाते हैं जिन दस का इशारा करेगा जन्म से बहर आ जाएंगे तो पता चला कि ये अपने अमल की वजह से जो शफी का अमल है उसकी वैल्यू का लिहाज है उसका मर्तबा जो उसका एहसास है उसके लिहाज से सफारशें जो हैं वो कबूल हो जाएंगी और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि अब कितने गुना थे कितने नहीं थे यानी वो हुकूक लिबाद अल्लाह माफ कर मालेगा हकूकुल्ला खुद कर देगा ईमान होना चाहिए और फिर अगर शफी की शफात पहुंच गई अल्लाह ने फजल कर दिया तो इस तरह हो जाएगा दस बंदे जिनके लिए जहनम साबित थी कि ये जन्नमी है एक हाफिज के कहने पर उनको जन्नत अता फरमा दी जाएगी बात सोचने की है इन्होंने किसी हदीस को ना देखा सैकड़ों हदीस है शफात की खुद तो मुतलकन आयात काफिरों वाली पढ़ते हैं यानी जहां काफिरों का जिक्र है फमाला नाम इन शाफीन हमारा तो कोई शफी नहीं हमारा तो कोई शफी नहीं पढ़ते ये जाते हैं सुनाते मोमिनों के हैं कि कल तो आ, कोई परेशान हाल नहीं होगा कोई नहीं होगा कोई नहीं होगा यहां तक माजला पहुंच जाते हैं यहां तक यहां तक इंसान का जमीर गवारा नहीं करता कहते हैं कि हमारे नबी सलाम को कोई पता नहीं कि मेरे साथ कल क्या होगा यहां तक जसारत और जुर्म हो तो फिर भी समझते हो कि इसलाह की कोई जरूरत नहीं कुरान के साथ इतना जुलम हो रहा हो तो फिर भी इस आवाज को वारियत कहोगे यह हक है कुरान का और इस हक को हक साबित करना फर्ज है हम पर कर्ज है हम पर क्यों कोई ऐसा कुरान की आयात से करे रब ने दरवाजे खोले हुए हों कौन होता है जो आगे बाड़े लगा है रबुल जलाल ने इतनी शाने दी हैं अब जिस गरीब इंसान के बच्चे ने कुरान पढ़ लिया हाफिज बना आलिम बना आमिल बना वो तो दस ले जाए और जिनके सीने पे उतरा उनकी सूरत हाल क्या होगी सीने पे जिनके उतरे उनके लिहाज से कहना नहीं कल कुछ फायदा नहीं दे सकेंगे ये कोई दीन है ये कोई ईमान है ये कोई पहचान है नबूबत की जिन पर उतरा और किसी के बच्चे ने पढ़ लिया एजाज है और फिर उल बेसा वालदा हो ताज यौमल कियामा गरीब सी मां थी गरीब सा बाप था मगर क्यामत के दिन नूर का ताज दोनों को पहनाया जाएगा नूर का ताज कि बच्चा इनका हाफिज बन गया बच्चा पढ़ गया आलिम बना आमिल बना इस वास्ते इनके अपने अमल पर नहीं बच्चे की वजह से बच्चे की वजह से इनको ताज फरिश्तों पहनाओ हाय अफसोस उन लोगों की इस फिक्र का मातम करे जो लोग मेरे महबूब सलाम के वालदेन के बारे में गलत सोचे हजरत सैयद आमिना रजी अल्लाह तला और हजरत सैदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला उनके बारे में माजल्ला कहते फिरे कि वो वहां है वहां है और जन्नत से दूर हैं कैसे कैसे जमीर उनका मानता है कि वो ऐसी बात करें जिन पर उतरा हुआ कुरान गैर पड़े तो उसकी अम्मी को ताज पहनाया जाए अबू को ताज पहनाया जाए और जिन वालदेन के लाल के सीने पे उतरा उन वालदेन की शान क्या होगी क्या उनकी अपने वालदेन के बारे में भी बात नहीं मानी जाएगी हालांकि तयशुदा हकीकत है वो वैसे ही सरकार की नस्बत से वो पहले ही सरकार की असमत से उनकी ये असमतें दोबाला हैं शान निराली है तो इस वास्ते मोहतम सामिन हजरात जो हजार अहादीस और कुरान मजीद की सैकड़ों आयात से शफात का मजमून है वो तुम्हारे सामने तफहीमुल कुरान के रद में मैंने तुम्हारे पेश किया पूरी जिम्मेदारी के साथ हर लफ्ज का पाबंद हूं हर लफ्ज का जिम्मेदार हूं कि मैंने बरहक इस कौल को सौ फीसद हक समझते हुए तुम्हारे सामने इस फिक्री वारदात का इंकशाफ किया कितना कितना जुल्म किया लोगों ने तर्जमा कुरान की आड़ में और तफहीम कुरान की आड़ में कितने कितने मसाले हैं और कितने कितने रब के अजीम बंदों की शानों का इनकार किया है वो उस बंदों के साथ था बात यहां तक कर दी कि अल्लाह की शान का इनकार लाजिम आने लगा अब जिस वक्त वो अफसर और महकमे वाली बात चलाओगे वहां अगर दुनिया में अफसर सिफारिशें माने तो महकमा डूब जाता है और अगर खुद छोड़ता जाए फिर भी डूब जाता है जबकि यहां तयशुदा बात है कि रबे रब्बे जलाल हशर में खुद छोड़ देगा कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि महबूब सलाम फरमाते हैं अगर सारी दुनिया के बंदे पहले दर्जे के सूफी बन जाएं मुत्तकी बन जाएं अल्लाह को कोई फायदा नहीं दे सकते और सारे ही पहले नंबर के बुरे हो जाएं अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो उस रब के कारखाना कुदरत को महकमे से तस्वीर देना को तुक बनता है कैसी सोच है यह मेरे रब की अजमतों का इनकार किया जा रहा है इस वास्ते मोहतशम सामिन हजरात शफात है बरहक है अमल जरूरी है हर सांस में जरूरी है शफात बिल वजाहत है अल्लाह के दरबार में जिसकी जो वैल्यू है उसको रब कह देगा ये नहीं कि लकीर लगा के इसकी कर कहेगा जिसकी चाहता है कर शरत पहले लगा दिए मोमिन की हो काफिर की नहीं करनी काफिर की नहीं करनी आगे तेरी मर्जी है क्योंकि मुस्तदरक हाकिम की हदीस शरीफ जो चंद जुमे मैंने पहले बयान की उसमें जब नबी सलाम मुस्कराए और वो हदीस फिर आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं सुबह से लेकर बैठा शाम तक ईशा तक बैठ रहे बोले ही नहीं सिर्फ नमाज पढ़ाई फिर बैठ गए चाश के वक्त थोड़ा सा मुस्कराए थे पर मैं उस वक्त मैं बताऊं क्यों मुस्कराया था फरमाया अल्लाह ताला ने पहले नबियों को बुलाया तुम सिफारिश करो फिर शहीदों को बुलाया तुम करो और उस वक्त एक आखिरी बंदा जहन्नम से जिसको निकाला गया अशर बपाओ ना सरकार ने पहले देखा है सही हदीस में फरमाया जिस वक्त उसको अल्लाह ने निकाला तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा जो दुनिया से सबसे बड़ा बादशाह था ना उसके मुल्क जितनी ग्यारह बार इसको जन्नत दो उसने कहा तस्ताजियो बी वन तरबी रब हो के मेरे साथ मजाक करता है मैं कैसे जन्नतों का मुस्तहिक और इतनी बड़ी जन्नतों का महबूब फरमाते हैं सादा था बोल रहा था रब भी मुस्कराया है मैं भी मुस्कराया क्योंकि बैठे थे ना मजमे में तो मुस्कराए एक मकाम पर फरमा शाबा पता है क्यों मैं मुस्कराया हूं फरमा उसकी बात सुन के रब भी मुस्कराया है मैं भी मुस्कराया हूं तो ये अंबारे न्यारे होंगे उस वक्त इस अंदाज में ये रब जलाल ने शान दिया उस हदीस में ये है जब शोदा को बुलाया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा इश्फ लेमन मरादू और मैं मर्जी तुम्हारी है जिसका इरादा करो सिफारिश करो मैं कबूल कर लूंगा मन अराधू के अल्फाज भी इस बात को वाजे कर रहे हैं कि वहां पर मुतलकन इजाजत दे दी जाएगी और उस इजाजत से आगे बेड़े पार हो जाएंगे मेरी दुआ है रब्बुल जलाल रमजान मुबारक के लम्हात में हमें अमल की मजीद पुख्तगी और ईमान की मजीद अजमतें अता फरमाए हमारा आफाम दीन कोर्स का नूर भरा सिलसिला जारी है बतौर खास पंद्रह दिन मेरा ख्याल गुजर गए हैं और सिर्फ पंद्रह ही बाकी रह गए हैं कितनी हसरत होगी उन लोगों के लिए जो कभी भी उस नूर नगर में नहीं पहुंचे इस वास्ते जरूर पहुंचो बतौर खास जो माए बहनें जुमा पढ़ने आई हैं वो भी जरूर पर्दे में सुबह वहां पहुंचा करें और अपने जो पड़ोसने हैं उनको भी दावत दें ये बस मामूली सी एक रोता आई है और फिर चली जाएगी फिर पीछे यादें रह जाएंगी इस वास्ते जो पंद्रह दिन है उनमें अब किसी का नागा नहीं होना चाहिए और कल इंशाला बड़ा हमारा अहम मौजू है कादियानियत के बारे में खत्म नबूवत और कादियानी कुफर आप सबको अजर अजीम अता फरमाए